ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है आपका पुराना साथी रेडियो सिलोंग में है आजकल दुनिया में शोर शराबा धूम धड़ाका लूट खसोट झूठ परे मारा मारी भागम भाग तो बहनों भाइयों ऐसे में आप तनिक रुक जाइए हाँ, और थम के आराम की सांस लेकर डालिए नजर मधुर अतीत पर मीठे माजी पर और पलट के देखिए गुजरे हुए सुहाने जमाने को मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के अरे भाई कैसे न देखे मुड़ मुड़ के हमारी फिल्मी दुनिया के गीत थे ही इतने अनमोल कि हमें बार बार पलट कर उन्हें देखने और सुनने को जी चाहता है और आज तो बहनों भाइयों गीतमाला की छाओ में 1955 की छाओ के कुछ बड़े ही प्यारे गीत बजने वाले हैं मगर उनसे भी पहले वो देखिए अपनी छोटी छोटी छोटी छोटी झलकें दिखाने के लिए चले आ रहे हैं 1955 की सालाना संगीत जोड़ी की नीचे वाली आठ पायदानों के हिट गीत उस साल वार्षिक संगी संगीचड़ी की सोलहवीं पायदान पर थे मिया और बीवी यानी मिस्टर एंड मिसेस 55 उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवा है ये रंगीन रातों की एक दास्ता है उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवा है ये रंगीन रातों की एक दास्ता है कैसा है ये क्या दास्ता है बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है ये कैसा है नगमा और 1955 की पायदान नंबर 15 पर फिल्म बादशाह का फूल गुल मुस्कुरा उठा बुलबुल ये गाँव था बागों में आया बेबहार गुल मुस्कुरा उठा बुलबुल ये गा मगर बहनों भाइयों होशियार खुद मुस्कुराते हुए और झूमते गाते हुए कभी औरों को नुकसान मत पहुंचाइए हाँ, यही याद दिला रहा था उस साल का गीत नंबर चौदह फिल्म थी मस्ताना मत भूल अरे इंसान मत भूल अरे इंसान तेरी नेकी बदी नहीं उसे छुपी सब देख रहा भगवान मत भूल अरे इंसान मत भूल अरे इंसान भाई बहनों भाइयों 1955 के हिट गीतों की झलकों के साथ दौड़ने भागने से आप कहीं थक तो नहीं रहे हैं ना हाँ हाँ घबराइए मत अभी आपको बस कोई छह सात मिनट के बाद गीत माला की छाओ में बड़ा मधुर आराम मिलने वाला है तब तक चलने लीजिए धूमधाम ये आया उस साल का गीत नंबर तेरह फिल्म सरदार सरदार आपको शायद याद होगा सरदार के संगीतकार थे उस जमाने के बहुत ही मशहूर सुरीले गायक सुर सागर जगमोहन जिनका नाता फिल्मों से तो भाई बहुत कम रहा मगर नॉन फिल्म यानी प्राइवेट गाने उन्होंने बहुत सारे गाए थे जो मुझे अफसोस है गीत माला में कभी न बच सके खैर साहब अब आ रहा है 1955 का गीत नंबर 12 ओ सॉरी वो वो गीत नहीं था गालिब की गजल थी और फिल्म भी थी मिर्जा गालिब है बस के हर एक उनके इशारे में निशान करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमा और आहा बहनौर भाइयों उन दिनों इसी गजल के एक शेर को उर्दू हिंदी ठीक से न जानने वाले नौसिखिए ब्रॉडकास्टर अमीन सायानी ने यानी मैंने अपनी प्रार्थना अपनी दुआ बना दी थी सुनियो शेर यार अपना समझे है न समझेंगे मेरी बात यार अपना समझे है न समझेंगे मेरी बात दे और दिल उनको जो न दे मुझको जबा और दे और दिल उनको जो न दे मुझको जबा और आ, मतलब ये कि या रब अगर तू मेरी हिंदुस्तानी भाषा नहीं सुधार सकता तो मेरी बात ठीक से समझने के लिए मेरे सुनने वालों को और बड़ा दिल दे दे और देखिए मनोरमा ऊपर वाले ने इतना दिल दे दिया मेरे सुनने वालों को खासकर सुनने वाली लड़कियों को कि कि मुझे लगा जैसे उन्होंने मुझे बना लिया हो हाँ भाई रेडियो में मेरी फोटो तो उन्हें दिखाई नहीं देती थी ना इसीलिए कई लड़कियों ने मुझे प्रेम पत्र लिखने शुरू कर दिए थे और कुछ वर्षों के बाद इसका क्लाइमैक्स यूं हुआ कि फिल्मों की एक नई हसीन हिट हीरोइन ने नाम नहीं बताऊंगा आपको उसने अपनी शादी से पहले अखबारों में एक स्टेटमेंट दिया कि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी ना तो मैंने गीतमाला सुन सुनकर डिसाइड किया था कि मैं सिर्फ अमीन सायानी ही से शादी करूंगी मगर आ, मगर ये उस जमाने की बात है जब मैंने उन्हें देखा नहीं था <laughs> यानी नजर मुझ पर पड़ी ना बस तो मेरी वैल्यू जीरो खैर कोई बात नहीं कोई बात नहीं उन्हें और बाकी तमाम सुनने वाली लड़कियों को भी उम्मीद है मिल ही गया होगा उनका अपना अपना अच्छा सा कोई सैया इस फिल्म उड़न खटोला के तो आहा कई गीत हुए थे हिट 1955 में खैर ये गीत था नंबर 11 पर और उस साल पायदान नंबर 10 पर बुलाया गया था फिल्म जागृति की मम्मी जी को आपके सामने है 1955 की पायदान नंबर नौ सुनिए दिल पर हाथ रखकर और बहनों भाइयों याद कीजिए अपने उन सभी साथियों को और गीतों को भी जो आपके जीवन में कभी आए थे और फिर बिछड़ गए जीवन के सफर मेरा ही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में को ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले ओ, ओ, ओ, ओ ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले तकदीर न बस में डाले इनके किसी दीवाने को जीवन के सफर में रही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़ पाने को अच्छा भाई आप जरा बैठ जाइए जमकर और सुनिए एक बड़े मजे की बात इस गीत की फिल्म मुनीम जी के आने से काफी पहले दादा एस डी बर्मन ने किशोर कुमार से गीत गवाना शुरू कर दिया था मगर आ, क्या आप जानते हैं मैरों भाइयों कि दादा बर्मन से हुई पहली मुलाकात में बिल्कुल पहली मुलाकात में किशोर कुमार ने उन्हें इम्प्रेस किया था अपने गायन से ज्यादा अपनी एक्टिंग से जी हाँ खासतौर पर अपनी मिमिक्री यानी अपनी नकलबाजी से लीजिए किशोर कुमार ही की आवाज में सुनिए कि क्या हुआ जब वो पहली बार दादा बर्मन से मिले जब मैं उनसे मिला तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा बड़े निराले लगे धोती कुर्ता और दोनों कलाइयों में चमेली के गजरे तंबाकू वाला पान चबाते चबाते हारमोनियम बजा रहे थे कुछ देर बाद दादा मुनि ने शचिंदा को बताया कि जो मेरा भाई है ना ये भी थोड़ा थोड़ा गा लेता है वो बोले तुम्हारा भाई का नाम है तुम्हारा मैं बोला मेरा नाम किशोर ओ किशोर हजारा हाँ, गाँव तो तो मैंने उनका वही गाना गाया जो उस वक्त बहुत पॉपुलर था बंगाली में गाना था कौन नगरिया जावो रे बंसी वाले कौन नगरिया जावो तो वो तो हंसते हंसते बोले वंडरफुल ये तो हमारा कॉपी करता अरे दादा मुनि एक का आवाज बहुत अच्छा है खूब भालो गान करे हम ओके निश्चय चांस देवो बस फिर क्या था मैं सोच भी नहीं सकता था कि सचिन ना मुझे गाना गवाएंगे मैं तो फूल कर कुप्पा हो गया बहन और भाइयों मेरे पास एक बेमिसाल पूरा इंटरव्यू है किशोर कुमार का बर्मन दादा की याद में जो मैंने रोक रखा है अपने इंटरनेशनल रेडियो प्रोग्राम संगीत के सितारों की महफिल के लिए उसी से मैंने आपको ये छोटा सा हिस्सा सुनवाया आज ऐसे और भी कई इंटरव्यूज आने वाले हैं मगर सिर्फ फिल्म स्टारों के हैं बहरहाल अब हो जाइए तैयार शुरू होते हैं यानी आराम से बैठते हो जाइए तैयार शुरू होते हैं गीत माला की छाओ वाले वो गीत जो सालाना सुनने चोरी तक नहीं पहुंच पाए बड़े प्यारे गीत थे साहब वो भी और कुछ तो बड़े ही रोमांटिक गुन कली प्यार हम आप तो जानते ही हैं उन दोनों फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी कलर फिल्में शुरू नहीं हुई थी फिर भी बड़ी खूबसूरत फिल्में बनती थी साहब जो सफेद और काले बस इन दो रंगों की धूप छाव से इंसानी जज्बात के तमाम रंग बयान कर देते थे बयान कर देते थे बयान मगर अफसोस बहनों भाइयों कि मुझ जैसे लाखों करोड़ों नौजवानों को तो उन दिनों ज्यादा फिल्में देखना नसीब ही नहीं होता था या तो पैसे नहीं होते थे या वक्त नहीं होता था हम तो बस रेडियो पर गाने सुन सुन कर सोचते थे कि चलो हमने फिल्म देख डाली <laughs> आपको जानकर ताजुब होगा कि 1955 की वो सुपरहिट फिल्म भी मैंने नहीं देखी थी जिसके गीत सुन सुनकर मैं अपने आप को राज कपूर का छोटा भाई नहीं तो कम से कम उनका साला जरूर समझने लगा था और जब कभी मेरे रेडियो पर उस फिल्म का एक खास गीत बजता ना तो मैं अपने मम्मी डैडी और हमीद भाई से जरा आंख बचाकर डोलने लग जाता था क्योंकि उसमें भी बोलने और सुनने की बात थी जो मेरा पेशा भी बन गया था ना दिल का हाल सुने दिल वाला दिल का हाल सुने दिल वाला सीधी सी बात न मिर्च मसाला फेंके रहेगा कहने वाला दिल का हाल सुने दिल वाला आज दिल का हाल सुन दिल वाला सिद्ध सी बात न मिर्च मसाला कह के रहेगा कहने वाला दिल का हाल सुन दिल वाला छोटे से घर में गरीब का बेटा मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा ओ छोटे से घर में गरीब का बेटा मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा रंजो हम बचपन के साथी आंधियों में जली जीवन बाती भूख में है बड़े प्यार से पाला दिल का हाल सुने दिल वाला सिद्ध सी बात न मिर्च मसाला कह के रहेगा कहने वाला दिल का हाल सुने दिल वाला पैरों का सूरत ऐसी गांठ के पूरे चोर के जैसी हाय करू क्या सूरत ऐसी गांठ के पूरे चोर के जैसी चलता पिता जान के एक दिन बिंदे के पहचान के एक दिन बांध के ले गया पुलिस वाला दिल का हाल सुने दिल वाला सीधी सी बात न मिर्च मसाला कह के रहेगा कहने वाला दिल का हाल सुने दिल वाला बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा आगे से देखा पीछे से देखा ऊपर से देखा नीचे से देखा बोले ये क्या कर बैठे घोटाला आए ये क्या कर बैठे घोटाला ये तो है थानेदार का थाला का हाल सुने दिल वाला सीधी सी बात न मिर्च मसाला कह के रहेगा कहने वाला दिल का हाल सुने दिल वाला अच्छा देखिए गीत माला की छाव में गीतों की फिल्मों के नाम मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ मगर यहाँ एक फिल्म का नाम मैं जरूर लूंगा जिसके साथ उस साल तकदीर ने बड़ी नाइंसाफी की थी साहब वो फिल्म थी आजाद जिसमें कई लाजवाब गीत थे जैसे ना और कैसे आजाद का एक भी गीत सन 1955 की साधारण संगीत श्रेणी यानी हिट परेड के आसपास भी नहीं पहुंचा मगर यहाँ गीतमाला की छाव में तो हम उन्हें जरूर शान से बजा रहे हैं आजाद का एक और बड़ा प्यारा गीत अभी मिनट भर के बाद आएगा और पूरा बजेगा मगर उससे भी पहले मेरी यादों की लाइब्रेरी से निकल कर आएगी उस फिल्म की हीरोइन मीना कुमारी की शहद सी मीठी आवाज आजाद के हीरो दिलीप कुमार के बारे में कुछ कहती हुई फिल्म आजाद की शूटिंग का एक वाक्य सुनाऊं आपको ऊटी और कोयम्बतूर के बीच एक रूप वे है जिस पर ट्रॉली की मदद से सामान वगैरह ले जाया जाता है फिल्म का एक सीन था जिसमें दिलीप साहब मुझे शहर से दूर डाकुओं के गारों में ले जाते हैं हम दोनों को एक ट्रॉली पर बैठकर वहां तक पहुंचना था चुनाचे एक ट्रॉली पर तो मैं और दिलीप साहब बैठ गए और दूसरी ट्रॉली पर कैमरामैन सफर शुरू हुआ मगर जब हम कोई तीन चार सौ फुट की बुलंदी पर पहुंचे तो आदत के मुताबिक मेरा तो सर चकराने लगा और दो ट्रॉलियों के वजन से रोपवे भी झूलने लगी और बढ़ते बढ़ते ये झोल इतना बढ़ा कि हमारी ट्रॉली और जमीन के बीच मुश्किल से एक फुट का फासला रह गया होगा ट्रॉली अगर जमीन से टकरा कर उछलती तो मेरे से तो हाथ पांव फूल गए सांस रुकने लगी हलक सूख गया मगर दिलीप साहब फिर भी दिलीप साहब हैं थोड़ी देर के लिए घबराहट तो उन पर भी तारी हो गई थी मगर उनकी संजीदगी और खुदादी में कोई फर्क नहीं आया उन्होंने मेरा हाथ थाम कर मुझे तसल्ली दी और मेरा हौसला बढ़ाया हाथ उनका भी बर्फ की तरह ठंडा था मगर मुझे कुछ इतमान जरूर हो गया और फिर जो कुछ भी हुआ वो तो आपने फिर आजाद के सीन में देखा ही होगा कितना हसी है मौसम कितना हसी सफर है साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है कितना हसी है मौसम कितना हसी सफर है साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है अकेला दो हो तो फिर जहाँ भी चाहे लगा लो मेला दिल मिल गए तो फिर क्या जंगल भी एक घर है साथी है खूबसूरत ये मौसम को खबर है की है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है ये कह रही है आ दिल से दिल मिला ले उन सबसे आग लेकर दिल का दिया जला ले सच्ची अगर लगन है फिर किसका तुझको डर है साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है कितना हसी है साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है हाँ भाई क्या दिन थे वो भी संगीत भी मीठा मधुर था और जीवन भी पुरसकून मेहनत तो खैर करनी पड़ती थी रोजी रोटी के लिए मगर शाम को अपनों के साथ बैठकर हंसने बोलने का और घर बैठे रेडियो से मधुर मनोरंजन पाने का समय सबको मिल जाया करता था खासतौर पर बुध की शाम तो सारे एशिया के संगीत प्रेमी कहते थे कि चलो चलो चलो जल्दी घर पहुंचो आठ बजने वाले हैं गीतमाला शुरू होने वाली है और अगर घर पे रेडियो न होता तो किसी चाय के ढाबे या होटल की खिड़की के पास जाकर लोग गीतमाला सुन लेते थे और भाई मेरे एक बड़े करीब के दोस्त देवकी नंदन सारस्वत ने मुझे बताया था कि उन दिनों जलगांव जैसे कई शहरों में म्यूनिसपैलिटी वाले पब्लिक बागों और पार्कों में रेडियो लगवा देते थे ताकि वहां जाकर लोग गीत वाला सुन सकें और वहाँ भाई भीड़ का ये आलम होता था कि पूरा पार्क भर जाता था कई लोग तो पार्क के बाहर सड़कों पर खड़े रहकर भी प्रोग्राम सुनते थे और मोटर गाड़ियों के लिए हो जाता था ट्रैफिक जैम हाँ। अफसोस के जलगांव के देवकी नंदन सारस्वत अब इस दुनिया में नहीं रहे और बहनों भाई संगीत और फिल्मों की दुनिया के कई हसीन रहीन सितारे भी अब नहीं रहे बस उनके गीत और उन गीतों से जुड़े हुए कुछ लोग रह गए हैं उनकी याद दिलाने के लिए गीत वाले की छाव में गम की बदली सी छा गई तो आइए अब करने प्यार का एक सहमा हुआ सा सुरमयी उजाला और 1955 के एक और कम चले हुए मगर बेहद खूबसूरत गीत के पंख पर ले चले आपको सपनों की सहनी दुनिया में हुई है सपनों की बाहें आजा चल दे कहीं दूर वही मेरी मंजिल वही तेरी राही आजा चल दे तिलक छूने साहब यहाँ आकर हम लगाएंगे एक छोटा सा ब्रेक गीत माला की छांव वाले गीतों को